रही कश्ती तो वो चंद मिसकीनों की थी जो समंदर में काम करते थे चुनाचे मैंने इरादा किया कि मैं उसे ऐबदार कर दूं और उनके आगे एक ऐसा बादशाह था जो जबरदस्ती हर कश्ती छीन लेता था